यो Thank you. 一生相依，我可一个人过？我可一人不要你，不要你，不要你，不要你。

माने जीव के लिए ईश्वर बोल रहा है यद्यपि ईश्वर न रथी है न सारथी है दोनों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश अधिष्ठा है परंतु रथाभिमानी रथी पर अनुग्रह करके वो सारथी के रूप में उसके सम्मुख प्रकट हो गया है दृढ़ मात्र है न दृष्टा है न दृश्य है वो दृश्य होकर दृष्टा को उसके स्वरूप का रथाभिमानी को रथी को उसके स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है स्व परमेश्वर अर्थ प्रयोजन जस्य स्वपार्थ पार्थ किसको कहते हैं जिसके जीवन का परम प्रयोजन हो परमेश्वर परम अर्थ यश अर्थ प्रयोजन जो सच्ची वस्तु को पाना चाहता हो उसका नाम है पाप जो तो झूठे में रम जाए उसका नाम किसी ने कहा बाबा हमको सच्चे झूठे से क्या मतलब है हमको तो मजा चाहिए सुख चाहिए अर्जुन ने कहा नहीं राज्य में भले सुख हो पर किमनो राज्य ने गोविंद किम हो गई जीवित नबा हम राज्य लेके क्या करेंगे हम भोग लेके क्या करेंगे हम जीके क्या करेंगे हमको मजा नहीं चाहिए हमको तो सत्य चाहिए परमार्थ चाहिए तो ये जो परमार्थ का प्रेमी अर्जुन है विवेक वैराग्य संपन्न जीव और जिसने अपने रथ के घोड़ों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में अर्पित कर दें उसके प्रति श्री कृष्ण का उपदेश है भगवत गीता गीता पौरुषवादी शास्त्र है ये प्रारब्धवादी शास्त्र नहीं है एक ने कहा जरे भाई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन भजन करते हो तो दूसरे सज्जन बोले कि प्रारब्ध में होगा तो ईश्वर अपने आप ही मिल जाएगा तो प्रारब्ध भी तो करने से बनता है बाबा पूर्व जन्म में यदि साधन किया होगा तब में प्रारब्ध बनेगा और नहीं किया होगा तो कहाँ से बनेगा और प्रारब्ध से संसार का सुख दुख मिलता है कर्म से जो चीज बनती है वो बिगड़ती है तो जो कर्म से सुख आता है वो चला भी जाता है और जो कर्म से सुख आता है वो चला भी जाता है इसलिए प्रारब्ध से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है किसी ने कहा कि जब हमारा केतु ग्रह बहुत उत्तम स्थान पर बैठेगा तब मोक्ष हो जाएगा तो ये पक्ष ग्रह अगर मुक्ति देने लगते तो बस जिसके जिसके ग्रह हो उसको उसको मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी तो चलना है धरती पर और देखते हैं आसमान की ओर तो उसमें गिरने का ही ज्यादा डर रहता है हो चलना हो धरती पर प्रारब्ध से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है संसार के सुख दुख की प्राप्ति हो सकते हैं है ना और पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो ग्रह कुंडली में पड़े हैं वे प्रारब्ध के सूचक हो सकते हैं और गोचर में जो ग्रह होते हैं वह उत्पादित होते हैं उत्पाद के सूचक हो सकते हैं दो तरह से देखते हैं ना एक जन्म लग्न के द्वारा ग्रह देखते हैं और एक गोचर के द्वारा ग्रह देखते हैं चालू तो चालू ग्रह तो उत्पादित होते हैं और जो जन्म काल में जन्म लग्न के अनुसार जो ग्रह होते हैं वो पूर्व जन्मार्जित कर्म के अनुसार होते हैं तो वो जीवन में सुख दुख रोग वियोग इनकी सूचना मात्र देते हैं और शांति कर्म से भी वे केवल शिथिल हो सकते हैं इनका तो बड़ा विचार है जब हम कभी ज्योतिष पर कटाक्ष कर देते हैं ना थोड़ा बहुत तो लोग कहते हैं हैं? अरे बाबा ये सनातन धर्मी भी हैं कि नहीं हाँ। तो हमको तो ज्योतिष का जो मूल तत्व है स्वयं ज्योति परमात्मा जिससे ये सब ज्योति छोटे निकलते हैं बोला उससे हमारी जान पहचान है अच्छा तो एक ने कहा कि ठीक है जी ग्रह से तो परमात्मा नहीं मिलेगा प्रारब्ध से परमात्मा नहीं मिलेगा तो अपने आप कभी रास्ते में चलते चलते मिल जाएगा इसका अर्थ है कि तुम धन के लिए काम करना चाहते हो बच्चे के लिए काम करना चाहते हो भोग के लिए काम करना चाहते हो लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कोई साधन भजन नहीं करना चाहते हो तो न तो परमेश्वर की प्राप्ति होगी ग्रह से न प्रारब्ध से न अपने आप बोले एक दिन कृपा करके ईश्वर आवेगा हमसे मिल जाएगा मैंने तुमको तो ईश्वर की कोई चाह नहीं है जब उसको चाह होगी तभी ना तुम्हारे पास आवेगा उसी को तुमसे मिलने की चाह होगी ऐसे सुरखाप के पर लगे हैं तुमको कि तुम्हारे देश के बिना ईश्वर के मन में चैन नहीं होगी है? और वो तुमको तुमको देखे बिना उससे रहा नहीं जाता होगा तो वो तुमको देखने के लिए आएगा कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारे अंदर जिसके लिए ईश्वर चल के तुमसे मिलने के लिए आएगा तो असल में जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा हाथ पांव बीचना होता है ये महाराज ये जो गंगा में तैरने वाले मलाह लोग होते हैं ना गंगा जी में उनको धारा का पता होता है कि यदि हम यहाँ धारा में पड़ जाए तो कहाँ जाके किनारे लगेंगे ऐसी धारा की उनको पहचान होती है लेकिन उस धारा को पकड़ने के लिए थोड़ा हाथ पांव मार के किनारे से उस धारा में जाके अपने को डाल देना होता है फिर तैरो चाहे मत पैरो हाथ पांव मारो चाहे मत मारो वो धारा ले जा करके बहाती है ले जाके उस किनारे पर डाल देती है जहाँ वो लगना चाहते हैं पर उस किनारे पर पहुँचाने वाली धारा की पहचान होनी चाहिए और चार बार हाथ पांव मार के वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमने पुराने जमाने की बात पढ़ी है कि पहले लोग बोतल में बोतल में चिट्ठी डाल के और समुद्र की उस धारा में डाल देते थे जो वही किनारे पर जाके फेंकता हो समुद्र की धारा की पहचान होती थी और चिट्ठी बोतल में डाल के जहाँ पहुँचाना होता वहाँ पहुँचा देते हो तो धारा की पहचान होनी चाहिए अपना पौरुष होना चाहिए सुबह सुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्न योजनिया सुधेपति ये हमारी वासना की नदी बह रही है कभी शुभ मार्ग से बहती है कभी अशुभ मार्ग से बहती है हमें इतने पौरुष करना है कि ये हमारी वासना की नदी शुभ मार्ग में बहने लगे बिना यत्न किए बिना पौरुष किए जीवन में कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकती क्लैसियम मास्मगम पार नपुंसक नामस्मत ये क्लीब शब्द है क्लीब शब्द संस्कृत का ये क्लीब आधार से जो दृष्टता न करे उसका नाम क्लीब बना ऐसे क्लीव माने नपुंसक होता है नपुंसक माने अदृष्ट तो जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहल न करे अपनी ओर से जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहल न करे उसका नाम क्लीव बोला ऐसे समझो ईश्वर एक परम सुंदर परम मधुर परम रसमय परम लास्यमय एक श्रेष्ठतम नायिका है उसकी प्राप्ति के लिए हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए जिसके मन में हाँ, जिसके मन में पौरुष का उदय नहीं होता वो नपुंसक है पार्थ नई तत्व युग पद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप हाथ पर हाथ भर के बैठ जाना तो ये जिज्ञासु पुरुष का लक्षण नहीं है भक्त का लक्षण नहीं है उसको तो हस्तई ही हस्तान समाधि संतर संतान विचूर्ण हाथ से हाथ पीड़ित करके और बाप से बाप सभा कर बाप कटकटा के अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त करेंगे ऐसा संकल्प होना चाहिए ये हृदय में जो क्षुद्र दुर्बलता है इसको छोड़ देना चाहिए ये गीता पौरुष का ग्रंथ है साधन भजन में लगाने वाला ग्रंथ है मत प्रारब्ध पर छोड़ो मत कर्म पर छोड़ो हाँ, हाँ, मत अपने आप पर छोड़ो हाँ, भगवान की जब मर्जी होगी जब आके मिलेंगे कई बात पर भी मत छोड़ो बोले के यहाँ तो तुम्हारे दरवाजे पर आके बैठे हैं कफन सिर पर लपेट कर ऐसा वर्णन करते हो हाँ सर पर कफन लपेट के तुम्हारे दरवाजे पर आके बैठे हैं अब तो तुमसे मिलेंगे बोला ये बात आपको सुनाई हाँ, महात्मा बुद्ध बैठे उन्होंने संकल्प किया यहाँ धने तुम्हें शरीरम तो अगर सीमांसा निलयम प्रयांतु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम वो कहते हैं इस आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर सूख जाए हमारी चमड़ी और हड्डी और मांस हाथ में मिल जाए लेकिन तुमसे मिले बिना अब इस आसन पर से ये शरीर उठेगा नहीं बैठ गए तो बैठ गए तो नारायण कहने का अभिप्राय है कि गीता पौरुष का कर्म एवं अधिकार नियतम गुरु कर्मत्व कर्म ज्यायोग्य कर्मण शरीर यात्रा पिछते न प्रतिषेद कर्मण ये आलस्यों का ग्रंथ नहीं है है ना ये प्रारब्धवादियों का नहीं है ग्रहवादियों का नहीं है भूतवादियों का नहीं है स्वभाव यदृक्षा नियति प्रकृतिवादियों का ये ग्रंथ नहीं है जैसे ईश्वर निरंतर पौरुष कर रहा है वो ऐसे जीव निरंतर पौरुष करके परमेश्वर की ओर चले तो बोले भाई जब तक पौरुष करें अपनी ओर से बड़े हाथ पाँव खींचना चाहिए जिसको हम चाहते हैं उससे मिलने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करना चाहिए ये वृंदावन में जो अभिसार का सिद्धांत है ना वो यही तो है अभिसार का सिद्धांत माने जमुना जी समुद्र की ओर बह रहे हैं यही ना यथा नद्य चंदमाना समुद्रे हस्तंग जमुना जी आप क्यों बह रही हो कि समुद्र से मिलके उसमें विलीन हो जाने के लिए गंगा जी क्यों बह रही है कि समुद्र से मिलकर उसमें विलीन हो जाने के लिए कैसी हमारी चित्त वृत्ति की धारा जो है वो एक गुनी दुगुनी त्रिगुनी होकर के अपने इष्टदेव परम प्रियतम की ओर प्रवाहित हो गए गोपी महाराज अपना घर छोड़कर द्वार छोड़कर रिश्तेदार नातेदार छोड़कर सन्यासिनी होकर प्रेम के कारण सन्यासिनी होकर अर्थ छोड़कर धर्म छोड़कर काम छोड़कर और मोक्ष तक का परित्याग करके प्रेम रस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो अभिसरित हुई ये वृत्ति चाहिए परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो इसका अर्थ है कि हमें साधन भजन करना चाहिए हाथ पांव खींचना चाहिए बोले हमारे हाथ पांव खींचने से परमात्मा मिलेगा ये बात हम कर्म योगियों से हो जो कर्मयोग के के अर्थार्थी उन लोगों से मिल मिल के हमने बात की है आप जानते होंगे है ना शंकर संप्रदाय के हम संन्यासी है ना नारायण वहां तो हृदय ज्ञान मुक्ति ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती तमेव विदित्वा मृत्यु में भी नान्य संस्था विद्युत वहाँ कर्म का क्या अर्थ होता है परंतु नारायण जो मैल लगा है वो कर्म के बिना छूटेगा जो लोटे में गिलास में आपको पानी पीना है तो जो मैल लगा है ना वो जब तक उसमें और माटी और पानी और उपसन डाल के उस बर्तन को जब तक मांजेंगे नहीं तब तक वो छूटेगा नहीं हमारे मोकलपुर के बाबा महाराज कहते थे कि जैसे लोटे के भीतर मैल लगी होती है तो थोड़ा पानी थोड़ी मिट्टी थोड़ा कंकड़ उसमें डालकर हाँ, थोड़ा घास फूस डाल के और उसको हाथ से खूब मलते हैं और फिर उसको धो देते हैं डालते हैं उसमें मैल और वो मैल लोटे के मैल को लेकर निकल जाती है वो लोटा साफ हो जाता है तो नारायण ये भीतर जो मैल भरा हुआ है काहे का है ये कर्म का ही तो लगा है ना वो तो कहते थे कि ये जो हम लोग भोजन करते हैं यदि भोजन करना अन्न पान बिल्कुल बंद कर दें तो अन्न पान बिल्कुल बंद करने पर नसें जो है वो सूख जाएंगी और सिकुड़ जाएंगी और उनमें जो जहर है उनमें जो मैल है वो बाहर नहीं निकलेगा तो विष बढ़ जाएगा और आदमी मर जाएगा तो इसलिए जो हम लोग अन्न पानी भीतर डालते हैं ये भी हमारे नस नाड़ियों की सफाई करता हुआ उनको स्वच्छ बनाता हुआ बाहर निकलता है ये हमारा खाना पीना भी आत्म शुद्धि के लिए है तो बाबा अब ये बात हुई कि क्या हमारे कर्म में इतनी शक्ति है कि उससे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ये बात साफ है कि कर्म में इतनी शक्ति तो नहीं है कि उससे परमेश्वर मिल जाए तो हम कर्म योगी महात्माओं से मिले और उनसे प्रश्न किया एक तो हम अल्प शक्ति हैं अल्प करण है और अल्प शक्ति अल्प संकल्प अल्प ज्ञान अल्प करण से जो अल्प कर्म होगा उससे अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी हाँ उन्होंने कहा देखो पंडित जी सगुण सिद्धांत में जब तक परमात्मा अज्ञात है माने आत्मत्व न ज्ञात नहीं है तब तक आप उसको सगुण मानते हो कि नहीं आत्मत्व जब तक साक्षात्कार आत्मा के रूप में जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो गया तब तक आपकी दृष्टि में वो यदि निर्गुण भी है तो निर्गुणता भी एक गुण है और जब आत्मा के रूप में है तब वास्तविक निर्गुण है तो जब तक आपने आत्मा के रूप में उसका साक्षात्कार नहीं किया तब तक वो सगुण है इस बात पर ध्यान दो तो आपकी अल्प ज्ञान अल्प संकल्प अल्प शक्ति अल्प करण अल्प करण के द्वारा अल्प कर्म के द्वारा परमात्मा अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती ये सही है परंतु जब परमात्मा देखेगा कि मेरी प्राप्ति के लिए ये खटखटा रहा है अपना हाथ पांव पीट रहा है मेरी प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है करता वो परमात्मा प्रसन्न होकर आपके सामने अपने आप को क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकता वो तो सगुण है लो मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम तुष्यंती च रमंती च हमारे एक मित्र हैं वो कहते हैं च च ज्यादा नहीं बोलना तुष्यंती चरमंती च चरमा मृत्यु अनुभवंती चरमवध आचरंती चरमंती चरमंती च चरम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं देशा देशामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमहा ना तो भावस्थो ज्ञान दीपे न शाश्वता तो ददानी बुद्धि योगम था ये हो गई याद कहते भगवान कहते हैं कि जब हमारे लिए कोई चलता है और सुदामा जी अपने घर से चले द्वारका के लिए भगवान ने देखा कि ये दुबला ब्राह्मण हड्डी पतली से मुट्ठी भर की कमर हड्डी दिख रही है लकिया दिख रहा है ये तो साठ कोष पहुंचने में बेचारा मर जाएगा भूखे तो जब विश्राम करने के लिए सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठे आंख लग गई आंख लग गई तो क्या देखते हैं जगड़े पर क्या देखते हैं कि हम तो द्वारका में हैं ये इतना रास्ता क्या हो गया कब तो भगवान ने खुद ठीक करके हो खुद ठीक करके द्वारका में उनको बैठा लिया यही है ना तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम जब मनुष्य भगवान के लिए भजन कर चलता है चले परिक्रमा करने के लिए गए जी बिचारे चूहे पर ही चल पड़े तो हम तो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे भगवान को फंसी आ गई तो वो इनका चूहा पृथ्वी की परिक्रमा कब तक करेगा कार्तिकेय का मोर तो भला उड़ के परिक्रमा भी कर लेगा ये मुर्गन जो है महाराज दक्षिण में बुर्गन बोलते हैं मयूर मयूर है ना गति जीती मयूर का ये मुर्गन जो है कहिए तो उड़ के चले जाएंगे और ये चूहे वाले महाराज सकार उठ गणेश जी कब तक जाएंगे उपाय बता दिया जब आके नारद के रूप में उपाय बता दिया और माता पिता की परिक्रमा कर लो हो गया भगवान के नाम की परिक्रमा कर लो हो गया हमने देखा बच्चा जो है नन्हाता है उसको अभी उठने का सामर्थ्य नहीं है चलने का सामर्थ्य नहीं है ललकता है माँ की गोद में जाने के लिए जब वो बारंबार हाथ उठाता है और रोने लगता है वो नहीं कर सकता माँ की गोद में नहीं सामर्थ्य है उसमें लेकिन माँ को तो सामर्थ्य है ना कि बच्चा नहीं चढ़ सकता तो वो उसको उठा ले तो ठीक है कर्म में सामर्थ्य नहीं है न हाथ में सामर्थ्य है कि ईश्वर को पकड़ ले न पाँव में सामर्थ्य कि चल के उसके पास पहुंच जाए न जीव में सामर्थ्य है कि बोल के उसको अरे उसका वर्णन कर ले न मन में सामर्थ्य है कि उसका ध्यान कर ले लेकिन जब ईश्वर देखता है कि ये जीव हमारे अभिमुख हुआ तो जीव ही कृपा ईश्वर ही कृपा करके जीव के साधन को जीव के साधन को परिपूर्ण कर देता है हाँ। इसलिए आप अपने कर्म की अल्पता को मत देखो भगवान के महान अनुग्रह को देखो जब तुम उसके लिए चलते हो एक कदम तुम चलो एक महात्मा ने हमको कहा था कि एक कदम तुम चलो तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए एक कदम तो चलेगा ना इसमें भी कोई संदेह ये यथा माम प्रपद्यंते सास तथा तुम चलो एक कदम ईश्वर की ओर और, और ईश्वर चले एक कदम तुम्हारी ओर तो तुम्हारा कदम तो छोटा तुम्हारा कदम जो है ये तो छोटा और ईश्वर के एक कदम में क्या तुम मिले बिना रह जाओगे एक कदम चलो तो इसी को कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म तो गीता का कहना है कि तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ करो है ना ये तुम आम भक्त्या मई से देशु ईश्वर कहते हैं मेरा भजन करो तो अब बात ये हुई कि ये जो हमारा कर्म है ये कर्म ईश्वर की प्राप्ति का साधन हो सकता है कैसे हो सकता है कि यदि ईश्वर तत्पदार्थ है तो हमारे शुभ कर्म से और निष्काम कर्म से यदि हम कर्म को वेट न दें तो ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होगा और वो स्वयं अनुग्रह करके मिलेगा अच्छा यदि हम तत्पदार्थ के लिए कर्म न करें और निष्काम भाव से कर्म करें तब क्या होगा जब तब हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो कर्म के दो पहलू हैं सकाम को छोड़ दो यदि सकाम करोगे तो जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए करोगे वो मिलेगा और ईश्वर के लिए करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर के खुद आके मिलेगा लेकिन यदि ईश्वर के लिए भी न करो और दूसरों के लिए भी न करो केवल निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्म करो हाँ, तो देखो कर्म से तुमको कहीं नहीं ले जाएगा कहाँ ले जाएगा कि तुम जहाँ हो वहीं तुमको बैठा देगा स्वरूपस्थ कर देगा तो आरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ तस्व सम कारण उच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसकल्प समुयादी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः लोग कहते हैं कि भाई आत्मा की प्राप्ति के लिए कुछ मत करो विश्रा ये कुछ मत करो में जो करो रूप विधान है ना वो क्या है कुछ मत करो कुछ न करना भी जान बूझ कर करना है वो भी साधन है वो भी एक प्रकार का साधन है क्योंकि वह जब तक परमात्मा मिल नहीं गया और कर्तृत्व बना हुआ है तब तक करोगे तब भी करना है और न करोगे तब भी करना है कर्मण्य कर्म या पश्चिम अकर्मणी कर्म या सबुद्धिमान मनुष्य सयुक्त कृत कर्म कृत तो आओ आपको और आरु वृक्षोर मुने योगा आप योगा प्राप्त करना चाहते हो शर्मा जी कहते थे कि योगा क्यों बोलते हो आजकल अंग्रेजी बाबू लोग जब योग शब्द का उच्चारण करते हैं ना तो इसीलिए मैं भी योगा योगा लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ वो नकल है समझो है ना हमको ये मालूम है कि वो शब्द क्या है हाँ, हाँ। तो हमारे तो योग शब्द का अर्थ है दुख संयोग वियोग सम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञा हम व्यवहार आंख खुली हो और दुख हमको छू न सके हम बोल रहे हो और दुख हमको छू न सके हमारे सामने संयोग हो वियोग हो हरण हो मरण हो है ना और दुख हमको न छू सके ऐसी विद्या ऐसी कला का नाम हमको दुख से बचाने वाली कला ऐसा शिल्प ऐसी कारीगरी ऐसा टाइम जिससे हमको दुख होता हुआ भी छू न सके तो आप इस योग पर चढ़ना चाहते हो तो बोले की पहली बात यह है कि थोड़ा विचारशील होना भी जरूरी है रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण भे तीन बात चाहिए एक तो आरोहण की इच्छा हो आरुक्षु शब्द का अर्थ है आरोहम इच्छु आरुक्षु तथ्य आरुक्षो जो योग के योग के गोलोक में पहुंचना चाहता है योग के वैकुंठ में पहुंचना चाहता है योग के के पद पर पहुंचना चाहता है सबसे ऊंचा पद है वो योग इसके आचार्य है हिरण्य इसलिए इसमें आरूढ़ होना है आरूढ़ होना है क्या ये देखो कि विषय में स्थिति इंद्रिय में स्थिति अंतकरण में स्थिति ज्ञाता में स्थिति और संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होकर के दृष्टा का स्वरूप में स्थित होना आरूढ़ का अर्थ सामने की ओर जाकर छत पर बैठना नहीं है आरूढ़ का अर्थ है निवृत्ति क्रम से अपने स्वरूप में बैठना है जैसे तुम अवरूढ़ हुए हो वैसे आरूढ़ हो जाओ आरूढ़ ये ये आरोह अवरोह सितार बजाते हैं ना तो उसमें आरोह अवरोह होता है कि नहीं जैसे अंगुलियों का हो नीचे जाना ऊपर जाना ध्वनि का ऊर्ध और निम्न होना मंद्र मध्यम होना तो नारायण ये जो है आरोहण तो जिस क्रम से तुमने अवरोहण किया है उस क्रम से तुम आरोहण कर लो आरोहण का जैसे तुम तुम हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा तो अंतकरण में प्रवेश करके तुम मन में आए इंद्रियों में आए देह में आए विषयों में गए उतर ही आए ना बहुत नीचे उतर ही आए अरे कहा तुम ज्ञान स्वरूप निर्मल परमार्थ है और कहा विषयों में हो करके महाराज हाँ। कोई तुमको चूस रहा है जैसे लोग आम को चूसते हैं वैसे तुम्हारे शरीर को भी चूसते हैं कोई तुमको आंख से चूस रहा है कोई मुंह से चूस रहा है है ना तो क्षण ही तो कर रहे हैं सृष्टि के लोग जो हैं वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं शोषण कि तुम बहुत नीचे उतर आए हो तो जैसे नीचे उतर आए हो वैसे सीढ़ी दर सीढ़ी विषय को छोड़ो एक और शरीर में आ जाओ और शरीर को छोड़ो एक और इंद्रियों में आ जाओ इंद्रियों को छोड़ो एक और अंतकरण में आ जाओ अंतकरण को छोड़ो एक और अपने स्वरूप में बैठ जाओ जब अपने स्वरूप में आ गए तब बोले कि बस हाँ, पीछे थोड़ी हटते अपने स्वरूप ही तक गति होती है इसके पीछे जो चीज है वो कल्पित है इसलिए यदि परमात्मा होगा तो अपने स्वरूप में जो परिच्छिता की कल्पना है उस कल्पना के बाधित होने से अपना स्वरूप ही परमात्मा निकलेगा हो अपने स्वरूप के पीछे यदि परमात्मा होगा तो कल्पित होगा और अपने स्वरूप के सामने परमात्मा होगा तो दृश्य जड़ होगा अनात्मा होगा तो स्वरूपत्व जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और उसकी विषयता और परिच्छिता दोनों बाधित हो जाएगी नारायण और परोक्षता किसी परमात्मा का साक्षात्कार है तो अपने स्वरूप में आकर के बैठ जाओ हे भगवान लो अपने स्वरूप में बैठे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो देखो निवृत्ति हुई ना कर्म तो करना ही पड़ा पहले तो तुम पाप आलसी पने में पड़े थे कर्म करो वहां से जगो आ, फिर पाप कर्म में पड़े थे पुण्य कर्म करके वहाँ से जरूर पुण्य कर्म में सकामता में फंसे थे तो उससे निष्कामता में आ जाओ निष्कामता में भी कर्तापन में फंसे थे उसको छोड़ो है और अकर्तापने में भी भोक्तापने में फंसे थे तो उसको छोड़ो और महाराज ऐसे शुद्ध बुद्ध बुद्ध के बैठो अपने पद पर तो पहुंच गए कहाँ पहुंच गए कैसे पहुँचे बोले कर्म कारण उच्चते आरु रुखोर मुनेर योगम एक तो होनी चाहिए आरु आरु रुखा माने आकांक्षा कि हम अपने स्वरूप भूत पद पर आरूढ़ हो जाएं इच्छा ही नहीं होगी महाराज तब क्या होगा और दूसरी बात होनी चाहिए मनन मुने अपना स्वरूप क्या है ये जानकारी होनी चाहिए नहीं तो कहीं बैठोगे कहीं बैठोगे और समझ लोगे कि हम स्वरूप में बैठ गए मन और तीसरी बात होनी चाहिए कर्म कर्म मन उसके लिए साधन तो इच्छा होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए और साधन होना चाहिए और तो भाई अब आओ बैठ गए योगा रूढ़ बोले आप क्या करें काम करने की जरूरत नहीं प्रयोजन पूर्ण हो गया हाँ, हीरा पायो बात गति आयो बार बार वाको क्यों खोले मनमस्त हुआ सब क्यों बोले हैं मस्त हुआ सब क्यों बोले हीरा पायो गात गति आयो बार बार वाको क्यों खोले मनमस्त हुआ सब क्यों बोले हाँ एक संजन से वृंदावन में मेरे पास आके एक कविता सुनाया करते थे हाँ, हाँ। बड़ी बढ़िया कविता थी पर बीस पच्चीस बरस हो गया तो भूल गए मैं क्यों गाऊ है ना हाँ वो कविता थी मैं क्यों गाऊ मुझे गाने की क्या जरूरत है है ना बहुत बढ़िया मैं क्यों बोलू हाँ, मैं क्यों बोलू तो नारायण हाँ, हाँ, जो बात करने से मिलता है जो गाने से मिलता है जो डोलने से मिलता है वहाँ आके बैठ गए तो आरुक्षोर मुनेर जोगम जानकार आदमी जब सीढ़ी के रास्ते चढ़ता है तो चढ़ने में उसको कर्म करना पड़ता है लेकिन जब चढ़ के खड्डे पर पहुंच गया अटारी पर पहुंच गया अपने कमरे में पहुंच गया पलंग पर पहुंच गया तो अब वहाँ क्या करना है बोले वहाँ तो विश्राम करना है वहाँ तो आराम ही आराम है आनंद करो बोले कई लोग महाराज वहाँ पहुँच के भी विश्राम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं तो बोले अभी जोगारूढ़ नहीं हुए देखो तो पलंग पर लेटे लेटे या पलंग पर बैठ गए और वहाँ कोई न कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ गंजी सी रहे हो कोई गोरा चल रहा है तो वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं वो भी काम है तो वहाँ खा ही रहे हैं तो उन्हें जो उस पलंग पर पहुँचने का जो आनंद है वो नहीं आया उन्हें तो अभी कर्म का जब ये पलंग पर बैठ के खा रहे हैं तो भोग का आनंद है और जब ही पलंग पर बैठ के कर्म कर रहे हैं तो कर्म का आनंद है अच्छा जी दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो सब क्या कर रहे हैं तो कल के लिए कोई प्लान बना रहे हैं ना योजना बन रही है संकल्प हो रहे हैं है? कल कल कोई ग्राहक आवेगा तो उसको ऐसे ठगेंगे है ना तो विश्राम कर रहे हैं का विश्राम नहीं कर रहे हैं उनके मन को बड़ा भारी परिश्रम हो रहा है तो तुम अपने पद में बैठे हुए हो है ना इसकी क्या पहचान तुम योगारूढ़ हो गए तो देखो पहुंचने के लिए तो तीन चीज चाहिए आकांक्षा जानकारी और साधन और पहुंचने पर क्या होगा का तीन बात पहुंचने पर तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो हमको भोग मालूम नहीं पड़ेगा कर्म मालूम नहीं पड़ेगा तो दो तो बात नहीं भोग भी मालूम पड़ेगा और कर्म भी मालूम पड़ेगा मजा तो सब है हो मजा तो सब है जब एक कहे और दूसरा समझे अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे पर आजकल सभी लोग जो कविता बोलते हैं ना हाँ उसके बारे में तो ऐसे बोला है एक ने ऐसे कहा है ये तो हाल ही का शेर है जो मैंने अभी सुना है ना आपको अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे मजा तो सब है जब एक कहे और दूसरा समझे तो बोले आजकल के कवि तो ऐसी कविता बोलते हैं कि अगर खुदा भी सौ बार सिर मारे तो भी समझे कि न समझे तो <laughs> धू धू करके जला रही है अंतरतम की ज्वाला वाह वाह क्या क्या पूछना है और हाँ, जला भी रही है और गाते भी जा रहे हैं तो न पहुंच जाने की पहचान क्या है यदा ही नेन्द्रियार्थेशु न कर्म स्वनुसजते सर्व संकल्प समन्यासी योगारूढ़ योगारूढ़ सत्य तो योगारूढ़ से सदैव सम कारण अच्छा तो जो आरुरुक्षु के लिए तो तीन चीज चाहिए इच्छा है जानकारी है और साधन है और आरूढ़ के लिए सम है सम है माने न तो इच्छा की अब जरूरत है और न तो जानकारी पाने की जरूरत है और न तो साधन की जरूरत है हाँ, अब पहुंच गए अपने घर में समह माने वही कर्म की शांति आकांक्षा की शांति दृष्टि ज्ञान की शांति इस तीनों की शांति का नाम है सम और सम हाँ, शास्त्रार्थ के झगड़े में बिल्कुल पढ़ने ही नहीं हम सब आचार्यों को बचा के आपको इसका अर्थ सुनाते हैं आचार्यों में जो मतभेद है वो बिल्कुल अलग चीज है तो बोले कि अच्छा कैसे पहचाने कि अब पहुंच गए आओ पहुंचे हुए पहचान तो पहचाने नाव तो तभी तक है ना जब तक नदी के पार न जाए वर्णन आता है शास्त्र में कि यदि आपको मंदिर में जाना हो तो खड़ाओं पर चढ़ के खटाखट करते हुए न जाओ जूता पहन के भी न जाओ वो भी हमारे शिष्टाचार जो जापानी लोग जो कपड़ा का जूता पहना देते हैं सिर्फ पाँव में तो वो भी पाँव धो के जाना उनके यहाँ पाँव धोते नहीं है पाँव में जूता डाल देते हैं कपड़े का कपड़ा वो केवल मंदिर के लिए रहता है पहना देते हैं तो वो भी नहीं हमारे शिष्टाचार में वो भी नहीं है हाँ, नंगे पाँव और जब मंदिर में पहुंच गए तो जूते की जरूरत नहीं है खड़ाओं की जरूरत नहीं है यान पर आरूढ़ होकर के भगवान के सामने नहीं जाया जाता अब आप पहुंच गए जाना जाने बाप पादुका बापी गमनम भगवत गृह ये सेवा पर आध है पाँव पर पाँव रख के बैठना अपराध है और दूसरे से बात करना भी अपराध है ये हमारा तो रसोई घर भी मंदिर है है ना रसोई घर भी मंदिर है भोजन के समय अन्न ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए कि उसमें जो रस है आनंद है ना अन्न है ब्रह्म है ना जो खा रहे हैं वो मालूम पड़े और उसका स्वाद आवे तो स्वाद आवे तो आनंद का अनुभव हुआ और मालूम पड़ा तो चित्त का अनुभव हुआ और अन्न जो है वो सत है तो भोजन करते समय सच्चिदानंद का अनुभव होना चाहिए और महाराज कोई बैठे और भोजन ये स्त्रियां हैं ना वो क्या करते हैं कि भोजन करते समय प्राय घरों में जो घर की समस्या होती है ना वो अपने पतियों के सामने रखते थे आज हमारी सास ने ये कह दिया देवरानी ने ये कह दिया देवर ने ये कह दिया आ, हाँ, अब पति जी महाराज उनका दिमाग जो है वो भोजन में से हट के कहीं गुस्सा आया अपनी पत्नी पर गुस्सा आया चाहे अपने भाई पर गुस्सा आया चाहे माँ पर गुस्सा आया अब गुस्से में भोजन जहर हो गया तो बनाया तो इतने प्रेम से पर भोजन को तो इन्होंने जहर बना दिया क्यों कब भोजन में जो सच्चिदानंद है ना वहाँ से नजर हटा के हम तो कभी कभी जब हमारे भोजन के समय लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ऐसी ऐसी महाराज बात कहाँ की शुरू कर देते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा तुम चिड़िए की तरह चीची करो हमने है ना हम तो अब पहले ये अन्न ब्रह्म का जो है वो समागर करके आराधना करके है ना भोजन करते समय उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए वो अध्यागंडम अभुक्तैन चाहे नमक कम हो चाहे ज्यादा उठा के फेंक नहीं देना चाहिए जली रोटी में भी परमेश्वर रहता है अन्नम न निंदा सद व्रतम उपनिषद में आया अन्नम न परिचक्षी तो अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए तो ये देखो हमारे तो भोजन रसोई घर भी रसोई घर भी हमारा जो है वो मंदिर है हमारा निवास स्थान भी मंदिर है जहाँ हम शयन करते हैं परमात्मा में शयन करते हैं वो अटबक करने की जगह नहीं है अच्छा जी तो आओ पहुँचे हुए की चर्चा यदा इंद्रियार्थेशु न कर्म स्वनुसजपे इंद्रिय के जो विषय हैं जो सामने आए उनका उपयोग करते जाओ परंतु उनमें भोक्तव्यता बुद्धि जो है का हमको तो इसी का भोग करना है तो ये बंधन नहीं होना चाहिए और कर्म आवे तो उसमें कर्तव्यता बुद्धि का अनुबंध नहीं होना चाहिए उसमें उतर मत जाओ है ना उतर मत जाओ उसमें कहते दो बातें भोगाशक्ति और कर्माशक्ति दोनों से मुक्त हो जाना ये पहुंचे हुए का लक्षण है तो बोले फिर बैठ के योजना बनाते होंगे महाराज ये महाराज योजना बनाना जो है ये प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि का लक्षण ये साधक की बात हम कर रहे हैं और दुनियादारों की बात नहीं कर रहे हैं उनको तो योजना बना के सब काम करना ही चाहिए अब एक महाराज निकलेंगे हरिभजन को और होटल लगे के पास भगवान के भजन के लिए निकले थे तो सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी का अर्थ है कि भगवान की ओर से जो किरण आ रही है उसका आदर करो तुम्हारे ऊपर भगवान की सनमयी चिन्मयी आनंदमयी रश्मि माला जो है वो लगातार तुम्हारे ऊपर उतर रही है उसका आदर करो तो कर्माशक्ति माने हम तो इस कर्म को पूरा करके छोड़ेंगे पूरा करना अपने हाथ में थोड़ी है उसके लिए तो कर काल चाहिए उसके लिए शक्ति चाहिए उसके लिए सहायक चाहिए अरे इस समय हम कर रहे हैं अपना टाइम हम बिल्कुल भर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक है ना परंतु हुकुम आ जाए बंद करो आप जानते हैं तो छोड़ो हरि बाबा जी कहते थे आज उनतीस मिनट करो आज पांच बज के उनतीस मिनट पर कथा बंद होनी चाहिए बोले महाराज बीस हो जाए तो बोले असावधानी हो जाएगी सावधान हमको बीस तीसवें मिनट से क्या आ सकती है हाँ। घड़ी बोल गई कल और खत्म काम खत्म क्यों एक मिनट ज्यादा बोले अपने अपने कर्म में अपने कर्म में लगे हैं और यही कर्म हम करेंगे दूसरा नहीं करेंगे तो हम दूसरे ही करेंगे ये नहीं करेंगे यदा इंद्रिया न कर्म स्वनु सज्जते आज एक बड़ी मजेदार बात मालूम है एक को मिठाई खाने के आए तो उसके बड़े बूढ़ों ने कहा कि मिठाई मत खा तो उसने कहा भले हम मर जाएंगे लेकिन बिचारी नहीं छोड़ेंगे देखो तो है ना मजा तो भाई हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे गुरु की बात नहीं मानेंगे लेकिन हम ये काम जरूर करेंगे तो ये हुआ क्या तो उस कर्म में आसक्ति हो गई तो उस भोग में आसक्ति हो गई अब आपने वो सुना होगा गुरु नानक वाली बात एक चेला एक बेटा दोनों से बनवाई दे दी सत्संग के लिए दे दी शाम को बोले ठीक नहीं बने बिगाड़ गया दूसरे दिन बिगाड़ दिया दिन भर बनाई तीसरे दिन बिगाड़ दिया दिन भर बनाई चौथे दिन बिगाड़ दिया अब जो वो बेटा था ना उसने कहा कि जब बिगड़वाना ही रहता है तो रोज बनवाते काहे को है दिन भर का मेहनत खराब जाती है हम काहे नहीं बनाते कच्चा बाबा मत बना चेले से पूछा भाई तेरी क्या राय है तो उसने कहा कि देखो महाराज हमको तो जिंदगी भर आपकी आज्ञा का पालन करना है, है? रोज आप आज्ञा दे दिया करते हो ये बेदी बना दो मैं बना देता हूँ और शाम को आप ही आज्ञा देते हो कि तोड़ दो तो तोड़ देता हूँ हमको तो आपकी आज्ञा से मतलब है आपकी आज्ञा हमारे लिए है ये बेदी हमारे लिए थोड़ी है ये वेदी हमारे लिए थोड़े वेदी हमारी नहीं है आप हमारे हैं आपकी आज्ञा हमारी है रोज बनाओ रोज छोड़ दे तो कर्मा शक्ति भोगा शक्ति और संकल्प है ना और संकल्प से मनुष्य संकल्पवार बनता है वो संकल्प आखिर होता काहे का है भोग और कर्म का ही तो संकल्प होता है और काहे का संकल्प होता है तो सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि मन में कोई कल्पना नहीं है अरे जैसे सपने में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं जाती हैं ऐसे आती हैं जाते हैं कई लोग तो महाराज मिर्चा हो उनको इतना प्रिय होता है कि नहीं छोड़ सकते संसार में इतनी है ना कड़वी चीज हम लोगों की दृष्टि से तो बिल्कुल कड़वी चीज है हाँ, एक के घर महाराज गए भोजन करने हाँ, हाँ। तो कह दिया था कि हम लोग हाँ, लहसुन और ये प्याज पलांडू और लहसुन नहीं खाते हैं बहुत पुरानी बात है तो उन्होंने बनाया तो हमारे लिए बिना प्याज क्या बिना लहसुन बना के खिलाया लेकिन वो कहने लगे कि महाराज आप बिना प्याज के खाते हैं तो आपको स्वाद कैसे आता है आप क्या पानी पानी की तरह रोज खाते हैं इसमें क्या स्वाद है है ना अब देखो उनको बिना प्याज के भोजन अच्छा नहीं लगता होगा तभी तो ऐसा कहते होंगे ना है ना तो ये जो वस्तु विशेष में कर्म विशेष में व्यक्ति विशेष में भोग विशेष में है आ, जो हम लोगों की आसक्ति हो जाती है वो इस बात को बताती है कि ये जो मैल लगा है मन में इसको छुड़ाने की जरूरत है बोला और जब मैं छूट गया और अपने घर में बैठ गए तो योगा अभी भाई हमारे कहने का कोई अर्थ नहीं है उद्धरे आत्मनात्मान नात्मान अवतारे जब तुम स्वयं चाहोगे तब इस कीचड़ से उठ सकोगे और स्वयं नहीं चाहोगे तो और और दूसरा कोई कहेगा उठने को तुम कहोगे नहीं वाह तुम हमारी आलोचना करते हो तो तुम हमारा दोस्त देखते हो उसकी भलाई के लिए कोई बात बताओ तब भी उसको ये लगेगा कि तो हमारा दोस्त देखता है है ना तो नारायण ये संसार में जब भोगा शक्ति कर्मा शक्ति पदार्था शक्ति व्यक्ति आशक्ति जब हो जाती है तब मनुष्य मनुष्य को बताया भी नहीं जा सकता जब उस स्वयं उससे बचने की इच्छा करेगा और बचाने की कोशिश करेगा तब बचा सकेगा इसलिए ये गीता जो है ये पौरुषवादी ग्रंथ है ध्यान योग आत्मसंयम योग छठे अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग ध्यान योग अपनी मनोवृत्तियों को समेटना अर्चना